आट बाट नहीं जाए निहारी जनुपुर दह दिशे दवारी आवत सुत सुने कय कयनंदिनी हर विकुल जल रूह चंद सजिारती मुदित उठि धे द्वारे भेटी भवन ले आई भरत दुखित परी परि वारु निहारा मानव तोहि बनज मारा बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई कई बड़ी हर्षित हुई वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो कह कई हर सित के हर सित ये भाते हो मुदित दव लाए किराती सुतहि ससोच देखि मन मोरे पूछति नैहर कुशल हमारे सकल कुशल कहे भरत सुनाए पूछी निज कुल कुशल भलाय कहु कहतात कहा सब माता कह राम लखन प्रिय भ्राता एक कई कई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो पुत्र को सोचवश और मनमारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी हमारे नैहर में कुशल तो है भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई फिर अपने कुशल की कुशल छेम पूछी भरत जी ने कहा कहो पिताजी कहाँ है मेरी सब माताएं कहाँ हैं सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं सुन सुत बचन हमया कपट नीर नै भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बैन पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चूभने वाले वचन बोली तात बात मैं सकल समारि भयमन्थरा सहाय विचारि कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सूरपति पूरपगुधारे न त भरतु भय विबस विषादा जनुसहमे करि के हरिनादा तात तात हा तात पुकारे तरे भूमि तल भारी हे तात मैंने सारी बात बना ली थी बेचारी मंथरा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो वे तात तात हाथ पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े चलतन देखन तो तातन राम सोपे मोहि बहुर धीर धरी उठे सम्भारि पे तुमर हे तुम तारी बचन कहत कैके मरम पाछ जनु माहुर आदि दे हुते सब आपन करने कुटिल कठोर मुदित मन भरणी और विलाप करने लगे कि हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले माता पिता के मरने का कारण तो बताओ पुत्र का वचन सुनकर कई कई कहने लगी मानो मर्मस्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी भरतही बिसर पितु मरण सुनत राम बन गौन हे तू अपन पौजान दिया थकित रहे धरिमोन श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए